लंबा लंबा श्वास सर्वद्रष्टा परमात्मा की भावना श्वास भरें कर दो भंवर में है नैया इसे पार कर दो भंवर में है नैया इसे पार कर दो मेरी इंद्रिया हो सदा मेरे वश में मेरी इंद्रिया सदा मेरे वश में मेरे मन पे मेरा ही अतिकार कर दो मेरे मन का ही अतिकार कर दो प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो कोई खोट इसमें रहने न पाए कोई खोट इसमें रहने न पाए शिविरार्थी अच्छा। शिविर में आत्मनिरीक्षण शाम को कराया जाता है क्योंकि दिन भर का हम कर्म लगभग कर चुके होते हैं कम कर ओ oh. घर पर रात्रि में किया जा सकता है सायकाल रात्रि में सोते समय लेकिन आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया वास्तव में दिन भर चलती है थोड़ा थोड़ा तो हम हर काम में करते ही रहते हैं स्थूल कार्य हो सूक्ष्म कार्य हो आप अपने स्थान से यहां तक पहुंचे भ्रमण से यहां तक आए तो इस समय भी आत्मनिरीक्षण चल रहा था या नहीं आत्म मतलब यहां आप लीजिए शरीर का निरीक्षण चल रहा था या नहीं शरीर पे तो कोई ध्यान नहीं दिया मैंने चल के आ रहा था रास्ता देख रहा था मैं रास्ते पे ठीक चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं ये हमें बोध था या नहीं था यदि इधर विशाल भवन की तरफ न होके आप भोजनालय की तरफ जाने लगे आपको पता लगता है या नहीं लगता है? लगता है हम पंक्ति में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं भ्रमण में ये पता लगता है मैं अभी क्या कर रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए ये सोचते हुए हम पंक्ति में भ्रमण में जैसा चलते हैं ठीक तरह चलते रहते हैं दूसरों को भी देखते हैं अपने को भी देखते हैं मैं कहा हूं ये बहुत स्थूल उदाहरण है दिन भर के जितने भी कार्यों को करते हैं हम अपने शारीरिक स्थिति को देखते रहते बोलते हैं तब भी मैंने ये बात बोल दी है दूसरे को ये हमें पता रहता है ये बात मैंने नहीं कही है ये हमें पता रहता है आत्मनिरीक्षण का नाम लें या ना लें किसी को बताया हो या नहीं बताया हो ये इस तरह की बातें हमें पता रहती हैं हमने कौन से वस्त्र पहन रखे हैं स्नान किया नहीं किया ये सब हमारे को बोध रहता है बहुत सारी चीजों का हमारा और भी लौकिक सब व्यवहारों का तो कार्यों को करते हुए भी हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं मन में ये आए कि वो कैसे करेंगे फिर काम कैसे होगा नहीं सामान्य रूप से हम सब करते ही हैं तभी तो हम ठीक ठीक जगह पे पहुंचते हैं ठीक ठीक बोलते हैं ठीक ठीक खाते हैं जैसा हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम भोजन कर रहे हैं और ग्रास को यहां ले रहे हैं हमें पता लगता है ना कि हम मुंह में चला गया है या इधर उधर चला गया है मुंह में अभी भर चुका है अभी अगला ग्रास थोड़ी देर बाद में लेना है अभी निगल लिया है अब मुंह में लेना है ये सारा बोध नहीं रहता है हमारे को सब रहता है और उसके अनुरूप ही हम कार्य करते हैं तो ये तो सामान्य व्यवहार के लिए निरीक्षण हुआ हम करते ही रहते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम अपने कार्यों के पीछे छुपे उद्देश्य कारण अपनी भावना उसका भी निरीक्षण कुछ कुछ तो करते ही हैं और यहां जो बताया जाता है या आध्यात्मिक व्यक्ति को जो करना होता है इसी कार्य को सूक्ष्मता से करना होता है आत्मा को साथ में रख के करना होता है परमात्मा को साथ में रख के करना होता है करते तो आज भी हैं इसलिए दिन भर आत्मनिरीक्षण करना अपनी निगरानी रखना और उसके अनुरूप कार्यों को करना ये हम कर सकते हैं चलते चलते जब ठोकर लगती है और हम थोड़ा गिरने लगते हैं तो फिर कुछ बचने का प्रयास करते हैं कुछ हाथ फैलाते हैं कुछ दौड़ते हैं कुछ और करते हैं किसी को थामते हैं ये प्रयास करते हैं ये प्रयास हम तभी कर पाते हैं जब हमें ये पता लग जाता है कि मेरे को ठोकर लग गई है और मैं गिरने वाला हूं हमें पता ना लगे कि ठोकर लगी है मैं गिरने वाला हूं तो हम ये रुकने का प्रयास करेंगे क्या बचने का प्रयास करेंगे क्या कभी नहीं करेंगे हमारा बचने का प्रयास ही ये बता रहा है कि हमें पता लगता है बस ऐसा ही अपने मन के स्तर पर कि ये अच्छा विचार आ गया ये बुरा विचार आ गया ये मैं नीचे जा रहा हूं यहां मुझे अपने को रोकना है ये करना ही पड़ता है एक गाड़ी चलाने वाला अगर ये ना देखे कि गाड़ी चल कहा रही है किस गति से चल रही है सामने से कोई आ रहा है मेरे को बच करके हूं मैं दूर हूं उससे ये सब ना देखे कितनी दूरी है जगह है नहीं ये सब आकलन ना करे तो कैसे चलेगा टक्कर होनी है बिल्कुल इसी तरह से मन की आंतरिक स्थिति को भी दिन भर देखते रहना यह आत्मनिरीक्षण है और प्रतिक्षण हर क्षण हमें ये करना ही होता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो हम अन्य कार्य करते हैं आत्मनिरीक्षण को हमने अलग कर लिया ध्यान संध्या उपासना को अलग कर लिया स्वाध्याय को अलग कर लिया यम नियम के पालन को अलग कर लिया सेवा कार्य को अलग कर लिया ऐसे कुछ कुछ हमने बांट लिया विभाजन कर लिया और आत्मनिरीक्षण को भी विभाजन कर लेते हैं भाई ये आत्मनिरीक्षण का कार्य है ये रात्रि में होगा लेकिन आत्मनिरीक्षण का कार्य ऐसा है जो इन सब में साथ में रहता है ये तो केवल अभ्यास के लिए कि दिन में ध्यान नहीं गया और शाम को बैठ लेके कर ले कोई व्यक्ति इन सब कार्यों में आत्मनिरीक्षण जुड़ा हुआ है और इन सब कार्यों की सफलता आत्मनिरीक्षण के जुड़े रहने पर ही अगर कोई व्यक्ति दिन में सावधान नहीं है अनुभव नहीं कर रहा है तो शाम को आत्मनिरीक्षण करना उसके लिए संभव नहीं है उसको पता ही नहीं है याद ही नहीं है कि मैंने क्या क्या किया क्या ऊंची नीची स्थिति हुई वो पहले वहां दिन में पता तो लगनी चाहिए बड़ी बड़ी घटनाएं कुछ हुई वो पता लगी वो शाम को विचार ली छोटी छोटी बातों पे ध्यान जाएगा ही नहीं याद ही नहीं आएगा आत्मनिरीक्षण में शाम का आत्मनिरीक्षण भी वही कर सकता है जिसने दिन में उन घटनाओं को ध्यान से देखा हो क्योंकि सायकाल का रात्रि का आत्मनिरीक्षण हमारी दिन भर की अनुभूति की स्मृति के ऊपर निर्भर करता है हमें याद है तो हम करेंगे और याद कब रहेगा जब उसको हमने गंभीरता से अनुभव किया हमें केवल स्थूल बातें ही ध्यान में आएंगी आत्मनिरीक्षण में जैसे कि कई बार हम दोपहर में भोजन कर लेते हैं शाम को पूछो कि कौन सी सब्जी थी तो कई बार वही ध्यान नहीं आती है भी खाई है गौर नहीं किया ध्यान ही नहीं आती दाल कौन सी थी ध्यान ही नहीं आती इन सब चीजों में आत्मनिरीक्षण बैठा हुआ है और इनकी सफलता भी आत्मनिरीक्षण पर निर्भर करती है उदाहरण ले लीजिए स्वाध्याय करना मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन हम कर रहे हैं अगर हम पढ़ते जा रहे हैं यहाँ ये लिखा है यहाँ ये लिखा है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए ये दार्शनिक बात ये है लक्ष्य क्या है हम केवल पढ़ते जा रहे हैं उसको स्मृति अच्छी है तो याद भी हो गया थोड़ा अधिक किसी ने पूछा तो बता भी दिया वहां ये लिखा है अब इस सब को करने से ये तो हो जाएगा कि कहा क्या लिखा है क्या सूत्र है और क्या बात है बोल भी देंगे कर भी देंगे लेकिन स्वाध्याय का जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाएगा और इसीलिए फिर ऐसे ही स्वाध्याय करने वाले पढ़ने वाले पंडित आचार्य उनको देख देख करके लोग यही कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो पढ़ ली इतनी पोथियां याद कर लिए वेद मंत्र याद कर लिए श्लोक व्याख्याएं कर ली सुन ली लेख लिख लिए वो सब चलता रहा है बौद्धिक स्तर पर परीक्षाएं भी दे दी सब कुछ हो गया लेकिन स्वाध्याय का जो प्रयोजन है वो सफल नहीं होगा ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलेंगे समाज में कारण क्या स्वाध्याय के साथ जो आत्मनिरीक्षण चलना चाहिए था अपने साथ में स्वाध्याय को ज्ञान को जोड़ना चाहिए था वो नहीं जोड़ा अगर वहां कोई बात आ रही है ऐसा होना चाहिए ऐसा करना चाहिए एक साधक आत्मनिरीक्षण करने वाला तत्काल देखेगा मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं मैं कितना कर रहा हूं मेरे में कहा चूक है कहां कमी है उसको सोचेगा ही क्योंकि पढ़ने का प्रयोजन क्या है उसका पढ़ने का प्रयोजन आत्मा का उद्धार ईश्वर की प्राप्ति है वो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नहीं पढ़ रहा है वो प्रवचन देने के लिए या प्रवचन देके आजीविका कमाने के लिए यश प्राप्ति के लिए नहीं पढ़ रहा है लेख लिखने के लिए नहीं पढ़ रहा है विद्वत्ता का दूसरों पे ज्ञान कराना बोध कराना अपने आप को बड़ा सिद्ध करना इसलिए नहीं कर रहा है वो साधक आध्यात्मिक व्यक्ति जब आत्मा और परमात्मा को साथ में लेके चलेगा किसी भी कार्य में तो स्वाध्याय में भी लेगा और वो अपने साथ में जोड़ेगा हमारे को कोई लेख लिखना है उसके लिए हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं वो एक अलग बात है बहुत से स्वाध्याय करने वाले कहते हैं कि जी मैं तो एक दो पंक्ति पढ़ता हूं एक पृष्ठ पढ़ता हूं उससे आगे पढ़ ही नहीं पाता हूं क्यों नहीं पढ़ पाता समय है पढ़ना जानते हैं दस बीस पचास पृष्ठ पढ़ भी सकते हैं दो चार पृष्ठ पढ़ते हैं कभी कभी तो बस दो पंक्ति पढ़ी एक अनुच्छेद पढ़ा बस आगे पढ़ने का ही मन नहीं करता विचारने लग जाते हैं उसको अपने से जोड़ लेते हैं मैं ऐसा कितना कर पा रहा हूं वो विश्लेषण में लग जाते हैं उसी चीज के और ये कब हुआ जब वो आत्मनिरीक्षण साथ में कर लेते हैं जो पढ़ा वो मेरे में है नहीं है कितना है ये उसका प्रारंभ हो जाता है श्रवण या तो अध्ययन उसके साथ में मनन उसका चल जाएगा अपने से जुड़ करके अपने से बिना जुड़े भी मनन चल सकता है कोई बात पढ़ ली श्लोक में मंत्र में उस पर विचार चल रहा है अपने को छोड़ करके लेकिन अपने से जब जुड़ जाता है तो ये आत्मनिरीक्षण हो जाता है और स्वाध्याय की सही सफलता तभी है जब हम अपने से जोड़ करके उसको पढ़ना शुरू करते हैं ग्रंथ को इतने दिन में पढ़ना है वो पाठ्यक्रम हो कहीं पढ़ाया जा रहा हो वो एक अलग क्रम है लेकिन जो अपने एक साधक के रूप में स्वाध्याय है उसमें तो अपने को जोड़ के ही चलना पड़ता है और आत्मनिरीक्षण वहां आवश्यक है दूसरी चीज ले लीजिए ध्यान साधना उपासना परमात्मा की स्तुति प्रार्थना हम कर रहे हैं एक स्तुति प्रार्थना यह है कि परमात्मा का नाम ओम बोल लिया उसके गुणों का वर्णन कर लिया बखान कर लिया आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो मंत्र भी पढ़ लिए बहुत दिनों तक चलता रहेगा प्रभाव नहीं आएगा बहुत कम आएगा कितना आएगा कि हम संसार से हटके थोड़ा परमात्मा का विषय बना के बैठे उतना तो संयम हुआ ही है उतना तो नियंत्रण हुआ है बस इतना ही लाभ होगा जब ध्यान संध्या उपासना को हम अपने से जोड़ेंगे आत्मनिरीक्षण करते हुए चलेंगे तो एक अलग बात होगी ओम बोलते ही आएगा हे सर्वरक्षक परमात्मा अपने को देखेगा मैं परमात्मा को सर्वरक्षक मान के चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं परमात्मा को मैं अपना रक्षक मान के चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं वहीं सोचने लग जाए यदि मैं परमात्मा को सर्वरक्षक मान करके चलूं तो मेरे जीवन में क्या चीज आनी चाहिए कैसे पता लगे कि मैं परमात्मा को अपना रक्षक मान करके चल रहा हूं कैसे पता लगेगा रक्षक के होने पे हमारे में क्या स्थिति आती है निर्भयता आती है निश्चिंतता आती है डर दूर हो जाता है ईश्वर ओम नाम बोल दिया सर्वरक्षक बोल दिया वो सबकी रक्षा करता है ये सब भी बोलते हुए व्यापक चर्चा चिंतन चल सकता है लेकिन इसका लाभ उतना नहीं आ पाएगा यदि आत्मनिरीक्षण और अपने को उससे जोड़ करके हमने नहीं किया लाभ नहीं आएगा कम आएगा और अपने से जोड़ लिया तो प्रतिदिन आगे अच्छा ये कमी है मैं तो डर रहा हूं वो वहीं रुक जाएगा एक ओम पे और एक सर्वरक्षक पे रुक जाएगा एक ओम पे एक न्यायकारी पे रुक जाएगा भले ही और कुछ नहीं हो इसी को वो गंभीरता से लेगा उपासना सफल है उसकी तजपस तदर्थ भावनम जप किया शब्द का उच्चारण किया अर्थ की भावना की अर्थ की भावना के बहुत स्तर है अपने अपने ज्ञान के अनुसार हम अर्थ की भावना अलग अलग करते हैं जितना अधिक ज्ञान व्यापक ज्ञान उतनी अधिक अर्थ की भावना हम कर सकते हैं और ये अपने को जोड़ करके भी होती है और अपने को बिना जोड़े भी हो जाएगी जैसे ही हमने अपने को जोड़ लिया तो समय लगेगा अब ये नहीं होगा कि मैंने इतने मंत्र बोल दिए दस मिनट में पूरा हो गया जी वो तो एक कर्मकांड जैसा होगा यंत्रपत क्रिया हो गई कहा कि नहीं मंत्र बोलने से काम नहीं चलता है अर्थ सहित करना चाहिए उसने अर्थ भी याद कर लिया समझ लिया कि पुस्तक में से देख लिया अब उसको भी पूरा का पूरा यूं का यूं बोल दिया जैसे मंत्र बोलता था गीति का बोलता था वैसे ही अर्थ भी बोल रहा है व्यक्ति बोले अर्थ सहित करता हूं मैं संध्या में अर्थ सहित करता हूं लेकिन प्रक्रिया यंत्रवत चल रही है बोल रहा है बस बोल रहा है बस वो शब्द जो हम बोल रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं ये कौन देखेगा कैसे पता लगेगा ये अपने आत्मनिरीक्षण से ही पता लगेगा ध्यान संध्या करते समय मैं कितना जुड़ पा रहा हूं अपने आप से अपने पे घटा के देखेगा वो क्योंकि ध्यान संध्या किसके लिए कर रहा है ध्यान संध्या किसके लिए कर रहा है तो एक तो ये आएगा कि मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूं बड़ों ने कहा है परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए वो बड़े हैं एक भाव बन जाता है कि मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूं परमात्मा ने कहा है परमात्मा की स्तुति प्रार्थना नहीं करूंगा तो अनिष्ट होगा ठीक नहीं है वो जैसे कि परमात्मा के लिए कर रहा है दूसरे के लिए कर रहा है एक प्रक्रिया निभा रहा है बस नहीं ध्यान संध्या तो हम अपने लिए करते हैं और अपने को जोड़ नहीं रखा है उसके साथ में अपना निरीक्षण साथ में चलेगा हम उससे जुड़ेंगे और ऐसा यदि हम कर रहे हैं तो उपासना में कब समय निकल गया पता ही नहीं लगेगा अपने से जोड़ के कर रहे हैं ऊब नहीं होगी कम देर भी करेगा तो वो सार्थक होगा ऐसे ही अन्य भी सब कार्यों में हम लगा सकते हैं ये जितने अच्छे अच्छे कार्य हैं करने चाहिए उनके अपने लाभ हैं लेकिन लाभ कब मिलेगा जब साथ में हम आत्मनिरीक्षण को वहां पर जोड़ के चलेंगे मेरे को किस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है यज्ञ करते हुए इदन न ममा मेरे में कितना है उस समय है दिन के कार्यों में इदन न ममा की भावना कहाँ है कम है तो उस भावना को बनाना ईश्वर को सर्वरक्षक नहीं मान पा रहा हूं तो उसको बनाना उस समय विचार करना है नहीं ईश्वर सर्वरक्षक है ये बार बार सोचना ये साथ में जुड़े तो आत्मनिरीक्षण केवल एक सायकाल की जाने वाली क्रिया नहीं है ये केवल अभ्यास के लिए दिन भर का अवलोकन लेकिन वो दिन भर की जाती है दिन भर ठीक अवलोकन हुआ तो सायकाल का विश्लेषण ठीक उचित कर पाएंगे नहीं तो मसाला ही नहीं है विचार करने को और भी जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं जितनी भी उन सब में ये साथ में जुड़ा रहेगा और आप अन्य क्रियाओं को करते हुए किसी को देखें अगर आत्मनिरीक्षण नहीं है आपको स्वयं भी पता लग जाएगा और अन्य क्रियाओं को करते हुए भी अगर जीवन ठीक नहीं बन पा रहा है कमियां हैं अभी भी उत्थान की तरफ नहीं है उसका सीधा सा मतलब है ये क्रियाएं बाहर से हो रही हैं अपने से जोड़ करके वो नहीं की जा रही आत्मनिरीक्षण करने में कई बार ये आता है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन हम खुद आत्मनिरीक्षण अपना ठीक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं बताया जाता है कि कुछ दोष हैं वो हम पकड़ लेते हैं कुछ दोष विद्वान पकड़ पाते हैं हमारे कुछ दोष योगी लोग पकड़ पाते हैं हमारे यदि हम उनके संपर्क में आते हैं रहते हैं व्यवहार करते हैं तो बता सकते हैं पता लग जाता है जिन्होंने बहुत आत्मनिरीक्षण किया है वर्षों से अपना अवलोकन किया है मेरी कब भावना होती है तो मैं क्या करता हूं इस भावना होने पे क्या क्या किया जाता है क्या क्या कर देता है ये ये कर रहा है तो पीछे क्या भावना रही होगी ये अपना देखते देखते और दूसरों का भी देखते देखते बहुत कुशल हो जाता है व्यक्ति इसमें और किसी की छोटी सी घटना को देख करके उसके बोले हुए छोटे से वाक्य को सुन करके उसको पीछे का पता लग जाता है कि ये इसकी ये स्थिति है विशेषज्ञ होते हैं वो थोड़े से से पता लग जाते हैं हमें लगता है कि हम बता नहीं पा रहे हैं बता रहे हैं ये सुन नहीं रहे जैसे चिकित्सक के पास कई बार जाते हैं विशेष रूप से सरकारी चिकित्सालय प्राय मरीजों को शिकायत रहती है कि हमारी बात ही नहीं सुनी उन्होंने तो कहना शुरू किया और उन्होंने लिखना शुरू कर दी सुनते ही नहीं मैंने एक दो बातें बोली और वो तो बस लिखते चले गए मैंने मेरी बात पूरी नहीं हुई उन्होंने तो पर्ची थमा दी ठीक है कई बार चिकित्सक का भी दोष होता है लेकिन जहां बहुत रोगी हों और उनको पता है कि ये जो बोलने वाला है क्या बोलने वाला है उनको एक ही लक्षण से पता लग जाता है या तो देखते ही पता लग जाता है कि और लक्षण ये होने वाला है इनकी पूरी सुन के लिखूंगा तब भी यही दवाइयां लिखूंगा लिखना तो यही है मेरे को हाँ जो व्यक्तिगत डॉक्टर होते हैं प्राइवेट डॉक्टर होते हैं वो अच्छा शुल्क लेते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं वो आराम से खूब सुन लेते हैं सुनते रहते हैं बैठे बैठे या कुछ और विचार करते रहते हैं क्या पता हमारे को उनको तो पता लग चुका है कि इनको ये है एक लक्षण से ही पता लग गया कि बाकी और लक्षण ये चार पांच ये भी होंगे ऐसे ही आत्मनिरीक्षण करने वाले भी पता लगा लेते हैं तो इस क्षेत्र में चलते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति पता लग जाते हैं तो हमारे मन में आता है कि भाई हम तो नए नए हैं हम अपने दोषों को पता लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे और दूसरों की सहायता लेते हैं तो कुछ दोष हम स्वयं पकड़ पाते हैं कुछ हमारे गुरुजन पकड़ पाते हैं कुछ मित्र पकड़ पाते हैं कुछ साधक योगी पकड़ पाते हैं और कुछ दोष परमात्मा पकड़ पाते हैं हम नहीं पकड़ पाते तो यदि इतनी असमर्थता है हम अपने दोष ही नहीं पकड़ सकते पकड़ पाते तो फिर आत्मनिरीक्षण भी क्या होगा हमारा आत्मनिरीक्षण केवल उतना ही होगा जितना हम पकड़ पा रहे जितने गुण और दोष पकड़ पा रहे हैं उतना ही तो आत्मनिरीक्षण होगा हमारा उसके आगे का कहां से होगा अभी दूसरों की सहायता लेनी पड़ेगी लीजिए कितनी सहायता ले सकते हैं दूसरों की अब कोई विद्वान कोई योगाभ्यासी योगी हमारे दोष बताए तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा हम उनके साथ रहेंगे कितने कितने समय रहेंगे एक दो घंटा एक दो दिन और विशेष सेवा करने लगे कि नहीं पूरा ही आत्मनिरीक्षण कराना है तो हम उनकी सेवा में पहुंच जाएंगे महीना दो महीना साल उनकी सेवा में रहेंगे ऐसा आप में से कितने कर सकते हैं थोड़े बहुत कर सकते हैं और अगर सारे चाहें तो ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे इतने कि जिनके पास आप रह करके और इतना निरीक्षण करना चाहिए व्यक्ति भी नहीं मिलने वाले ये ठीक है कि वो लोग बता सकते हैं उनके बताने की भी सीमा है और उनकी उपलब्धता भी बहुत कम है और वो अपने अन्य कार्य छोड़ के केवल आपके पीछे ही क्यों लगे रहेंगे सब कुछ छोड़ के संभव नहीं है और वो हमारी कितनी चीजें देखें कितना भी कुशल हो आत्मनिरीक्षण करने वाला हो पता भी लगा लेता हो कुछ लेकिन सारी बातें पता नहीं लगा सकता अंदर का भाव क्या था वो किसको पता है पूरा नहीं पता लगता परमात्मा तो पता लगा लेगा बाकी सबको और को पूरा नहीं पता लग सकता हम पता लगा सकते तो करें क्या करें एक तरफ हम अपने को बहुत थोड़ा जान पा रहे हैं विद्वानों के पास ज्यादा रह नहीं सकते समय नहीं है उनके पास भी योगियों के पास भी समय नहीं है हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि उनके पास जाके महीना दो महीना साल रह लें तो फिर आत्मनिरीक्षण कैसे होगा इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है परमात्मा की व्यवस्था इतनी अच्छी है और परमात्मा की सहायता इतनी विशिष्ट है कि जो भी सच्चाई से आत्मनिरीक्षण प्रारंभ कर देगा उसको कोई रुकावट नहीं आएगी बोले जी सूक्ष्म दोष तो जान नहीं पा रहे अभी हमारे को सूक्ष्म दोष जानने की आवश्यकता भी नहीं है अभी हमारे में स्थूल दोष है जितने हमारे में दोष है हमें पता लगेंगे जैसे जैसे हम उनको दूर करते जाएंगे वैसे वैसे उससे ज्यादा और नए दोष हमारे को अपने आप पता लगेंगे अभी हम स्थूल दोषों में हैं और कहें कि जी कोई ऐसे योग साधक मिल जाए जो कि मेरे सूक्ष्म दोष बता सके इस सूक्ष्म दोष को जान करके करोगे क्या ये केवल उत्सुकता है स्थूल दोष अभी दूर नहीं हुए हैं सूक्ष्म दोष जान के करोगे क्या हटा तो सकते नहीं हो व्यर्थ है ही समय लगाओगे यदि हम सच्चाई से आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं अपने को अच्छा बनाना चाहते हैं पूरी ईमानदारी से पूरी पवित्रता से कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जितने दोष पता लगे उनको बस ठीक करना शुरू करेंगे जितने दोष पता लगे उनको ठीक करेंगे कईयों की आदत होती है नहीं जी मैं उससे जाके पूछेंगे उससे जाके पूछेंगे जी मेरे दोष बताओ मेरे दोष बताओ मैं दोष दूर करना चाहता हूं कई बार तो व्यक्ति केवल ये दिखाने के लिए जाता है कि देखो मैं अपने दोष ये कितना अच्छा साधक है और दोषों को दूर करना चाहता है और दोष सुनना आसान नहीं होता ये तो अपने दोष भी सुन लेता है कि अब अच्छा साधक है ये वो अपने को प्रस्तुत करना चाहता है और कोई एक विशेष दोष बता दो सच्चा सच्चा सीधा ऐसा जाएगा अंदर दोबारा पूछने नहीं आएगा <laughs> ऐसा होता है थाली में हमारे को जो मिला है खाने को बच्चा है वो कहेगा ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए भी जो थाली में पड़ा है वो तो खा ही नहीं रहे माँ देगी नहीं उसको बेटा छोड़ देगा अभी कोई मतलब नहीं है माँ बच्चे को भूखा नहीं रखना चाहती लेकिन फिर भी नहीं दे रही है बच्चा मांग रहा है और वो दे नहीं रही है परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है जितना आवश्यक है वो हमें पता लगता है दूसरे से पूछने जाने की जरूरत ही नहीं है जो आत्मनिरीक्षण करने लग गया वो दूसरों से दोष पूछने जाएगा ही नहीं जरूरत ही नहीं है उसको आत्मनिरीक्षण भी अपने से जोड़ करके कर रहा है लगेगा अभी तो इतने दोष हैं इनको दूर कर लू और वो जब दूर हो जाए और मेरे को पता न लगे दोष तो दूसरे के पास जाएंगे हमें पता है कि हमारे इतने दोष बाकी हैं अभी यही दूर करने बाकी हैं दूसरों को पूछ के करना क्या है और जैसे जैसे हम अपने दोष दूर करेंगे स्थूल दोष सूक्ष्म दोष हमारे को पता लगते जाएंगे जैसे फर्श पे गंदगी हो बहुत ज्यादा पत्ते वत्ते खूब बिखरे हुए हैं उन पत्तों के नीचे कितनी मिट्टी है सीलन है वो हमें पता नहीं है अभी बोले जी सारा पता होना चाहिए पद लग जाएगा पता पत्ते तो हटाओ पहले नीचे का अपने आप पता लगेगा और उस मिट्टी के भी नीचे कहा कहीं तेल गिरा हुआ है कहीं तारकोल बिछा हुआ है कोई रंग बिखरा हुआ है और क्या है वो सब पता लग जाएगा चिंता नहीं अब हटाना तो शुरू करो जो दिख रहा है उस पर लग जाओ बस एक ही रास्ता है कहीं किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है जैसे हम पहाड़ियों पे जाते हैं नीचे से सारा कर रहे हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए कैसे कैसे करें ये पहाड़ी वो पहाड़ी उसके बाद कौन सी आएगी अब यहाँ कोई बता भी दे तो समझ में नहीं आएगा वो कौन सी पहाड़ियां इतनी पहाड़ियां होती हैं और सब एक जैसी लगती कोई पहले एक पहाड़ी चढ़ो तो सही अगली पहाड़ी अपने आप दिखने दिखेगी एक नहीं चार दिखेंगी और आगे जाओगे उससे ऊपर की पहाड़ियां जो पहले दिखी नहीं रही थी वो अपने आप दिखेंगी कोई जरूरत नहीं है पूछने की चले तो सही चढ़े तो सही तो ये सोच करके मन में बिल्कुल भी हीनता नहीं लाइए कि मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं मैंने तो एक शिविर किया है मैं तो कुछ जानता नहीं हूं मैं कैसे आत्मनिरीक्षण करूंगा मैं दोष ही नहीं जानता हूं देखो बस सच्चे व्यक्ति को अपने आप पता लगता है यहां मैं क्रोधी था या मैं लोभी था मैं यहां कामी था या मेरे में सकामता आई इतनी मेरी निष्कामता रही धीरे धीरे पता लग जाएगा और सूक्ष्मता अपने आप आती जाएगी दूसरा कोई नहीं बता सकता दूसरा कोई नहीं चला सकता हमें ही करना है दूसरा कितना भी बड़ा योगी हो ऋषि हो वो हमारे को उतना नहीं संभाल सकता जितना हम अपने आप को संभाल सकते हैं वो बता देंगे हम चल रहे हैं कृपा करके आगे का बता देंगे आसानी होगी इतने तक ठीक है लेकिन अपने आप को संभालना ये तो हम तभी कर सकते हैं जब हम आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं दूसरा कौन संभालेगा हमारे को और संभालेंगे तो बहुत थोड़ा सा संभालेंगे घर परिवार में हम देखते ही स्थूल उदाहरणों में देख ली कोई व्यक्ति बहुत दुखी है रो रहा है संभल नहीं पा रहा है दूसरे उसको कुछ बोलते हैं करते हैं लेकिन उसकी स्थिति खराब है वो खुद ही नहीं संभल रहा है तो कौन कितने भी बोल दो नहीं संभल पा रहा है थोड़ा ही सहारा होता है खुद अपने को संभलना होता है और जो खुद थोड़ा दमदार होता है उसी को दूसरे सहारा देके आगे बढ़ाते हैं तो आत्मनिरीक्षण शब्द बड़ा ही सरल है प्रक्रिया भी बड़ी सरल है केवल करने की आवश्यकता है सूक्ष्मता अपने आप आएगी और आत्मनिरीक्षण का हमारा स्तर स्वरूप अपने आप बदलता जाएगा तो अन्य सब कार्यों को भी स्वाध्याय यज्ञ उपासना यम नियम का पालन उन सब में आत्मनिरीक्षण साथ में चलता ही है केवल परमात्मा को भी लेके कोई चल रहा है तो भी नहीं सफल होगा अपने को यदि नहीं जोड़ रखा है और केवल परमात्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहा है तो भी नहीं हो पाएगा तो वो चिंतन चिंतन करता लगे प्रभाव तब पड़ता है जब उसके साथ साथ अपने को जोड़ता है मैं वैसा हूं या नहीं हूं बस यही आत्मनिरीक्षण है और जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं अपनी सारी वास्तविकता असलियत हमें पता होती है ईश्वर को पता है और अपने को भी पता है बहुत कुछ ऐसे में अन्य लोग जो हमारा अवलोकन करते हैं उससे हम प्रभावित नहीं होंगे कम प्रभावित होंगे दूसरे हमारी प्रशंसा भी करते हैं और निंदा भी करते हैं उन्हें पूरा पता ही नहीं है हमारा कुछ बातों को लेके प्रशंसा करते हैं और उनकी प्रशंसा से हम इतने हो जाते हैं अच्छे इतने अच्छे बन जाते हैं कि हम सबसे अच्छे हो गए दूसरों के आधार पर हम अपने बारे में धारणा बना लेते हैं और उसमें फिर हम गर्व में अभिमान में अहंकार में जा सकते हैं बहुत आसानी है उसमें और दूसरे जब हमारी निंदा करते हैं दोषों को बताने लगते हैं और हमारा अपना आत्मनिरीक्षण है नहीं तो हम निराशा अवसाद उदासी में भी जा सकते हैं बहुत सरलता से जा सकते हैं दूसरों के आधार पर हम करते हैं हमारे अपने बारे में हमारे अपने मन के बारे में हमारे अंदर की भावना के बारे में अगर हम सच्चे आत्मनिरीक्षण निरीक्षक हैं तो दूसरे उसके बारे में अधिक जान पाएंगे हम अपने बारे में अधिक जान पाएंगे दूसरों के कथनों का अधिक महत्व नहीं है कहीं कहीं होता है जहां हम खुद नहीं पता लगा पा रहे और दूसरे ने कहा तो हमारा ध्यान गया कि हाँ ये बात है अथवा हमें पुष्टि हो जाती है कि हाँ मैं ऐसा हूं दूसरे ने भी कहा ऐसा है मेरे में तो दूसरों के कारण जो हम अधिक प्रभावित हो जाते हैं या तो प्रशंसा में या तो अवसाद में यदि हम अपना अच्छा आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं तो हमें पता है हमारी ये स्थिति है उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अधिक फर्क कुछ नहीं आएगा हमें पता है क्या है अब हमारे हाथ में सोना हो हमें पता है कि खरा सोना है ये सोने का हार है जांचा परखा है कोई संदेह नहीं और दूसरा कह रहा है कि ये पीतल का है तांबे का है जो लोकेशना से युक्त व्यक्ति है जो दूसरों को दिखाने के लिए वो कर रहा है वो तो सोचेगा कि इसने तो पीतल का कह दिया वो तो दुखी हो जाएगा लेकिन वो कहे कि ये तो तांबे का है और ये तो सौ रुपए का भी नहीं है आप इसको दस हजार का कह रहे थे उसके मन में कुछ नहीं आएगा उसको पता है कि खरा सोने का और इसकी कीमत दस हजार है तो है उसने सौ रुपए कह दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको तो कहता है कहने तो हमारी कीमत चली गई क्या हमारी कीमत तो हमारे पास में तो अध्यात्म में आत्मनिरीक्षण करने से जब हमें अपनी गुण अवगुण दोनों का जब पता रहता है तो हम दूसरों के कहने से विचलित नहीं होते होते हैं तो संभाल लेते हैं अपने और आत्मनिरीक्षण हमारे को एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति से बचाता है बहुत से साधक आपको मिलेंगे कहते हैं इतने साल मेरे को ये करते हुए हो गए ये करते हुए हो गए कुछ नहीं हुआ मेरे को आज भी गुस्सा आता है आज भी लोभ होता है आज भी राग होता है आज भी द्वेष होता है इस सामान्य रूप से कथन करते रहेंगे और निराश निराश ऐसा भला कैसे हो सकता है कि इतना किया और कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो पड़ता तो है अब पहले रोज गुस्सा आता था अब महीने में एक बार आता है आत्मनिरीक्षण है नहीं ध्यान है नहीं पहले बहुत तेज आता था अब कम आता है तो पता है नहीं कि कुछ कम हो गया है या नहीं मुझे तो गुस्सा आ जाता है अभी दूसरे भी कह देते हैं इतने शिविर कर दिया अभी भी आपको गुस्सा आता है कोई गुस्सा आता है तो कित कम हुआ या नहीं ये बताओ उसकी उग्रता कम हुई या नहीं उसका काल कम हुआ या नहीं आत्मनिरीक्षण करने वाले को ये पता रहता है लौकिक जगत में जो हम कुछ कमाते हैं करते हैं वो दिखाई देता है पैसा दिखाई देगा बंगला दिखाई देगा खेत दिखाई देगा यंत्र अनाज जो भी हम कुछ लाते हैं खरीदते हैं बनाते हैं वो दिखाई देता है कि हमने किया और ये है आध्यात्मिक गतिविधियों को करते हुए जो हम प्राप्त करते हैं उसको अगर हमने ध्यान से नहीं देखा तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमारे अंदर वो चीजें आ गई हैं वो रखी भी तो दिखाई देंगी नहीं वो लेकिन यदि हम आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं तो हमें पता है पहले की स्थिति भी पता है और आज की स्थिति भी पता है एक साल पहले क्या था एक साल बाद क्या हूं उसको पता रहेगा दुनिया कुछ भी कहे उसे पता है कि मैंने पहले ये था और आज मैंने इतनी ऊंचाई को पाया है पहले से ये अच्छा हुआ हूं उसको कभी भी ये नहीं आएगा कि मैं इतने साल चलते हुए महीनों चलते हुए और मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको दिख रहा है कि फर्क पड़ा है तो जो आध्यात्मिक उन्नति संपत्तियां हैं उसको जब तक हम ध्यान से नहीं देंगे देखेंगे तब तक वो पकड़ में नहीं आएंगी दिखेंगी नहीं पता नहीं लगेगा या तो बहुत लंबे समय बाद में पता लगेगा तो शिविर का ये अंतिम आत्मनिरीक्षण आपको सीधे सीधे तो मैंने आत्मनिरीक्षण नहीं कराया इस बार ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं व्यक्ति से इक्के दुक्के को नहीं तो सामूहिक रूप से भी आज के दिन का आपका क्या आत्मनिरीक्षण है आज आप पहले से ठीक चले या आज थोड़े ढीले पड़ गए जो ढीले पड़े वो हाथ खड़ा करो अच्छा और जिन्होंने अपना स्तर वही बनाए रखा वो हाथ खड़ा कीजिए ज्यादा है ठीक है कुल मिलाकर के आप लोगों में ढीलापन आया आप में से बहुतों ने जिन्होंने अच्छा किया किया लेकिन कई जनाब तो आखिरी दिन है आज ढीलापन आ गया जाने का समय आ गया पूछे कि नहीं आखिरी दिन बचाया अभी तो और अच्छा कर लेना चाहिए ये भी भाव हो सकता है अभी आपका मौन का समय कब तक का है आपके मौन से मुक्ति कब मिलेगी पता है आपको नहीं पता है बताऊं तो प्रसन्नता होगी कल सुबह यज्ञ तक यज्ञ की समाप्ति तक ताली किस बात की है कि दोपहर बारह बजे तक नहीं रखवाया सुबह तक आप यज्ञ की समाप्ति तक बिल्कुल ऐसे ही चलिए उसके बाद आपको अपना सामान भी लेना है पुस्तकें लेनी है डीवीडी लेनी है और जो जो भी है दूरभाष लेना है कि कुछ व्यवहार के कार्य हैं तो करने लेकिन यज्ञ के बाद में जब मौन खुलेगा <laughs> वो बात तो मैं कल कह चुका वैसे मैं दूसरी बात कह रहा हूं बच्चों की तरह तो आप अब नहीं करेंगे लेकिन भोजनालय में प्रातराश के लिए जब आप जाएंगे वहां आपको फिर मौन ही रहना है और कहेंगे जी हमको कह दिया था यज्ञ के बाद में मौन खुल गया वहां भोजनालय में इतनी बातें हो रही हैं ये मतलब नहीं है हाँ, आप बीच में उठे आप बात कर सकते हैं लेकिन भोजनालय के अंदर गए वैसे ही मौन रहिए फिर बाद में आ गए बर्तन वर्तन माज लिए फिर आप बातचीत कीजिए अपने एक दूसरे से अनुभव सुनिए बताइए सांसारिक बात न कीजिए आप एकदम संसार से यहां आए तो आपको कुछ अटपटा सा लगा ना एकदम से अब यहां से एकदम उधर जाएंगे तो भी अटपटा लगेगा संक्रमण काल थोड़ा धीरे धीरे होते हैं ना एकदम ठंडी से गर्मी में जाओ और गर्मी से एकदम ठंडी में जाओ तो जुकाम हो जाता है केवल मौन की बात नहीं है यहां आपको इतना सुनने करने का अवसर मिला एक स्थिति बनती है मन की एक भावना बनती है उसको एकदम से यू ही बाहर जाकर के और यू ही नहीं करना है वैसे तो बनी रहेगी किसी की कुछ दिन रहेगी किसी की कुछ घंटे रहेगी किसी की कुछ महीने रहेगी लेकिन अपने को एकदम से नहीं शिविर शिविर मतलब समाप्त जैसे कि बच्चे परीक्षा देने के बाद में अगले दिन उससे उन विषयों को पूछो तो कुछ नहीं बस परीक्षा तक याद रखना था आप कुछ मत पूछो उसको अच्छा ही नहीं लगता है पहले याद रखेगा लेकिन परीक्षा बस हो गई क्योंकि परीक्षा ही उद्देश्य था इस शिविर पूर्ण करना आपका उद्देश्य नहीं है आपने जो पाया है उसको बना के रखिए शिविर के बाद भी जब आप बात करते हैं ऐसी ही बातें कीजिए अच्छी बातें बताइए दूसरों को प्रेरणा दीजिए दूसरों को प्रेरणा मिलेगी अच्छा लगेगा और उसके बाद में साढ़े नौ बजे से यहां पर कार्यक्रम होगा आपके अनुभव सुनाने का तो, तो अभी सूचना आपको और हो जाएगी तो इन सबको जो आपने कुछ महसूस किया जाना उसको थोड़ा रोक करके अपने पास रखिएगा और उसी तरह जब तक आप यहां आए और आगे अपने घर पे भी कीजिएगा आज का विषय इतना ही रखते हैं ओम शांति